वो लोग जो खुशी और तकलीफ में खर्च करते हैं और गुस्से को पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं और अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद करता है